चुनाचे हमने उनके पास वही भेजी कि तुम हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसे भी उस कश्ती में सवार कर लेना और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले ही हुक्म सादिर हो चुका है और उन जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात न करना यह बात तय है کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے